अल्लाह ताला ही वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए समंदर को मुसखर किया ताकि उसके हुक्म से उसमें जहाज़ चलें और ताकि तुम उसका कुछ फजल तलाश करो और ताकि तुम शुक्रगुजार बनो